बोल राम चंद्र की जय मार मुग्धवंशी वाले की जय परमात्मा की प्राप्ति की संसार में जितने उपाय बतलाए गए हैं उन सब के मां सबसे बढ़ करके हर वक्त भगवान की स्मृति रहे यह चीज है भगवान क्या चीज है यह बात जैसी अपने बुद्धि से समझी है आज तक भगवान को जैसे स्वरूप समझे है वैसे स्वरूप की समृद्धि हर वक्त रहे और हर वक्त समृद्धि रहने में जो चीज सहायक है वही को सारो ले तो सत्संग जो है सहायक है तो सत्संग करे ज्ञान वैराग भक्ति आदि विषयों की जो पुस्तकें हैं सृष्टि समृद्धि इतिहास पुराण आदि उन्हें अर्थ और भाव को समझकर हृदय में धारण कर जिके से भगवान की स्मृति हर वक्त रहे भगवान की निरंतर स्मृति के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको संपादन करे वही वस्तु वास्तु के हमारी वस्तु है वही व्यक्ति हमारा मित्र है वही बस परिस्थिति हमारे लिए मंगल कारक है जिसके परिणाम स्वरूप के बीच के माँ भगवान की समृद्धि बनी रहे क्योंकि भगवान के स्वरूप की जो समृद्धि है अपना इष्ट देव की समझी उस देव को सर्वोपरि माने उससे बढ़कर कोई नहीं इष्ट देव का स्वरूप जो है सगुण निर्गुण साकार निराकार क्योंकि वास्तु के बीच के माँ परमात्मा का स्वरूप जो तो सगुण भी है निर्गुण भी है साकार भी है निराकार इसलिए कोई सा ही स्वरूप है तो भगवान का ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक होना चाहिए और इस प्रकार की भगवान की स्मृति जो है निष्काम भाव से होनी चाहिए कोई प्रकार की इच्छा नहीं रखना मन भुक्ति की मुक्ति की न भोगों की न मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखना एक प्रकार से भगवान की जो समृति है यह सभी साधनों के मन सहायक है परमात्मा की प्राप्ति के जितने जो साधन है उसमें यह चीज सहायक ही नहीं प्रधान सबसे बढ़कर के ज्ञान को मार्ग है तो उसमें निर्गुण निराकार के स्वरूप की समृद्धि सहायक है भगवान को जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसमें उसकी समृद्धि सहायक है सगुण निराकार है तो उसमें भी भगवान की समृद्धि सहायक है और सगुण जो साकार है उसमें भी भगवान की समृद्धि सहायक है और भगवान की समृद्धि में भगवान जो नाम है जिसको सहायक है इसलिए मैं नाम को जब और स्वरूप को ध्यान ध्यान नाम को जब वाणी के द्वारा ले मन से ध्यान करे या नाम को जब श्वास के द्वारा ले या एक प्रकार से मन से जब जो है उसकी महिमा वो निरंतर हो और आदर पूर्वक हो और दुष्काम भाव से हुए तो उसकी महिमा और भी अधिक और साथ साथ जब के नाम के जप के साथ हो तो नामी की समृति भी रहे भगवान की भी समृति रहे तो सोम सुगंधी माने कहने क्या है और भगवान के स्वरूप की स्मृति के साथ साथ के वहां भगवान के गुण प्रभाव तब तो रहस्य की समृद्धि रहे तो और भी लाभदायक है शीघ्र से बेड़ा पार है और सगुण साकार के बीच के मन जो है लीला और धाम की भी समृति रहे तो वह भी सहायक निर्गुण निराकार के साधन के बीच के मत भगवान के स्वरूप की समृति सबसे बढ़ चलती है नाम की समृति सहायक है और सत्संग मदद कारक है सत्संग की भी आवश्यकता है स्वाध्याय की भी आवश्यकता है और भगवान को तत्व तो रहस्य समझने की बात सभी साधना माप सकते तो चाहे निराकार है किंतु सगुण है तो उसमें गुण और प्रभाव की भी बड़ी आवश्यकता है सगुण निराकार और सगुण साकार के बीच के वहां जो है मैं लीला धाम की जो चर्चा है वो भी बहुत ही लाभदायक है निर्गुण को जो तत्व है समझ लो है जो नाम ज्ञान है सगुण निराकार के और सगुण साकार के तत्व तो है इसको जो सगुण है जिसको विज्ञान है तो ज्ञान विज्ञान आत्मा कूटस्व भी जितेन्द्रिय युवते त्युचते योगी संलोष्टा समसांज ज्ञान और विज्ञान से जिनकी आत्मा त्रिवत है और परमात्मा के स्वरूप में अचर है हरत जन्म क्रिया नहीं है और जिसकी इंद्रिया जीती हुई है और पत्थर मिट्टी और सोना जिसके समान है सर्वष्टात्म कांचन ऐसे योगी को युक्त कहते हैं बोले वाह बहुत उत्कृति का है सूर्य मित्र ने मध्यस्थ बंधु सो साधु सभी से पाते इसको संबुद्धि विशिष्ट थे सूर्य मित्र मैं सूर्य के वहां मित्र में और बैरी में उदासीन में और मदस्थ में असाधु में पापी में सब में जिनकी समुद्धि है वो श्रेष्ठ है सब में भगवत बुद्धि है वो श्रेष्ठ है सब में एक ब्रह्म बुद्धि है कि सब परमात्मा को स्वरूप है वो श्रेष्ठ है सम परमात्मा है इस वास्ते जिनकी समता में स्थिति उसकी परमात्मा में स्थिति है यही तेल जीते सर्गो ऐसा स्वामी चितंगना निर्दोष समय ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणी तेषेता उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया जिनका मन समता में स्थित ब्रह्म निर्दोष शुद्ध और सम है इसलिए जो निर्दोष शुद्ध और सम है उसकी ब्रह्म के स्वरूप में सूचित सूर्य और मित्र सूर्य मित्र में जो फर्क है कि परस्पर वो उपकार कर जिसको मित्र हेतु तो हित जो उपकार करे वो सूर्य बदलो न चाकर के जो उपकार करे वो तो है सूर्य और बदलो चाकर के उपकार करे वो है मित्र मित्र परस्पर में एक दूसरे को उपकार करे और सूर्य उपकार ही करे बदलो नहीं करे वो तो हेतु रहित दयालु हेतु रहित प्रेमी अरे माने बैर रखने वाला उदासीन पक्षपात रहित दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ दृष्टि नहीं कोई जो भी कुछ कर रहा है कर रहा है उसकी कल के वहां पर ध्यान ही नहीं उदास चिंता और बदस्त बदस्त माने न्याय करने वाला दो आदमी आके मध्यस्थ हो गया पंच बन गया और पक्षपात नहीं करी पक्षपात रहित तो उसका फैसला कर दिया मदरस तो बीच में पढ़ने वाला और उदासीन दोनों के बीच में नहीं पढ़ने वाला ये उदासीन और मदस्थ को फर्क परवीर और अर्जुन का युद्ध था उसके बीच में शिव जी ने कहा कि मैं उदासीन रहूंगा किसी की पक्ष नहीं करूंगा किसी के भी शामिल नहीं हूंगा जो किसी के शामिल ही न हो और उसे पंचायत में न पड़े वो उदासीन अपने को मालूम नहीं क्या बात है क्या और से वो की बीच में तो पड़े कि मैं बात नहीं जैसे मित्र और सूर्य गमन यह फर्क है इसी प्रकार से मध्यस्थ और उदासीन में फर्क है बैरी और द्वेषी माने बैरी और द्वेष करने वाला द्वेष और जड़ चेतन दोनों में हुआ और बैर चेतन में हुआ अपने बैर ऐसा जड़ बनी हुआ क्योंकि बदले में तो जो बैर करे बैंक साथ में बैर हुए और द्वेष सबके वहां हो जाए जड़ पदार्थ तो बैर करे कुछ तो ये दोनों एक ही चीज इनको इस प्रकार से भेद है सुनित मित्र उदास है बैरी तो मदस्थ और देश और बंधु बंधु बने कुटुंब वाला और साधु से भी पावे और साधुवान श्रेष्ठ सदाचारी धर्मात्मा महात्मा और विपरीत में पापी इन सब के वहां जिनका समभाव है वो सब तो परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो वैसे स्थिति हो जाती है परमात्मा को प्रावते पुरुष के लक्षण है सिद्ध के लिए तो कर्तव्य नहीं है वो तो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है ही साध्य के लिए ये साधन है इस प्रकार आपको तो साधन करे सबके मन समभाव रखे तो उसके आगे जाकर के परमात्मा के स्वरूप में स्थित है सूर्य तो नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय मोर मोर बंसी वाले की जय तो परमात्मा की हर वक्त स्थिति बनी रहे और उस परमात्मा के ध्यान के वहां मस्त रहे और उसमें जो जो चीज सहायक है उसको उसको सेवन करे सत्संग उसमें सहायक है भगवान के नाम को जब उसके मन सहायक है तो नाम को जब ऐसा निरंतर करे और सत्संग जब जब मिले उससे खूब लाभ उठावे और स्वाध्याय जो है सहायक है उससे भी लाभ उठावे और विश्वास श्रद्धा ये बहुत ही सहायक है श्रद्धा विश्वास में फर्क है कि श्रद्धा के अंतर्गत ही विश्वास है किंतु विश्वास के अंदर श्रद्धा नहीं श्रद्धा बड़ी चीज है विश्वास एक देशी चीज श्रद्धा के बीच के वहां उच्च भाव है भक्ति भी है वो विश्वास में स्वभाव नहीं है श्रद्धा पूज्य भाव है विश्वास तो अपने लड़के को भी कर सके स्त्री को भी कर सके किंतु पूज्य भाव नहीं है इस विषय में खूब विश्वास रखे और विश्वास होने से प्रेम अपना आप ही भगवान जिसमें श्रद्धा होगी विश्वास होगा उसमें भी प्रेम होगा तो ये सब चीज उसमें बहुत ही दामी और सहायक है और एकांत देश को सेवन हल्को भोजन भारी भोजन से निद्रा हल्का से कम नींद आवे फल और दूध खाओ तो नींद कम आवे अन्न खाओ तो अधिक आवे और जो तामसी भोजन है उससे और भी ज्यादा उसमें निद्रा है जो मादक वस्तु है लक्षण त्याग है तो एकदम त्याग चीज है बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजो भांग ये सब मादक वस्तु और भी जो काम सी भोजन है उसको सेवन नहीं करें यातियाम गतरसम पुति परिस्थिति से उच्छिष्टमृता वेदन भोजन काम से प्रियम काम से मनुष्य मुझे भोजन प्रिय होता है तो काम से भोजन से एकदम दूर रहे या त्याम जो चीज पकी नहीं है आम पके हुए नहीं है बने याद आम है और जिस भोजन को एक पहर बीत है उसको भी याद आम है कच्चो भोजन जैसे दाल फलका और भात वगैरह है कि एक तीन पैर माने तीन घंटा के बाद एक पैर के बाद ये एक प्रकार से पांव से बढ़ जाए यहाँ की आम गतरसम जिसका रस चला गया हुआ है वो भी तामसी है बिदाम को तेल निकाल लियो और गल व भूसी नहीं तो तामसी है उसकी जो दुर्गुण वाली चीज है जिससे भसन पे आ जाती वो भी तामसी है परिषित परिषद परिषद क्या है कि जो बासी है तो बासी समझो चीज सभी आपने तामस हो जावे है जो कच्चो भोजन है वो तो तीन घंटा के बाद ही तामस हो जावे जो पक्को है जिसको भी समझो कि वो सागपुरी वगैरह भी चौबीस घंटा के बाद वो भी तामस हो जाए बासी होने के बाद में आज को बनाए भोजन काल के लिए बासी हो जावे वो तामस हो जावे फिर भी पकवान जिसका है वो एक प्रकार से मैंने फिर भी ठीक मानी है जैसे मगध का लाडू है जैसे चीनी का सत्तु है तो जो चीज एक प्रकार से घी में चीनी में मावा में इनमें दूध में बनाई गई हुए साथ में ले जाकर विदेश में भी खाने के बाद सबक लेके जा सके शुद्ध समझी जा सके और अधिक काल तक ठह सके તમે બસ વાદું હોય છે રાજસી તો કહી જશે કે કામ से नहीं उसी समय विचार ले लो कुछ झूठे जो भोजन है देवताओं के लिए और के लिए तो वो भी झूठे होने जा सके जैसे लोग उसमें भोजन कर ले गैल रसोई में बचे हुए वो भी एक प्रकार से उच्छिष्ट है पर वो उच्छिष्ट है जिसको ऐसे तामसी की गिनती में नहीं तो तामसी की गिनती में कौन है कि जैसे मनुष्य पात्र में भोजन कर चुके और गैल ने जो पात्र में बच जाए जूठो वो सब उचिष्ट है इसी प्रकार से कोई गिलास छापा जल पीला तो वो गिलास उचिष्ट है जैसे सोडा वाटर और न्यूमोनियत आदि जो शीशी से पिया जाए गैल में बच जाए बाबा शीशी है तो वह शुद्ध है वो जूठ है तो वो तामसी चीज कोई भी चीज जिसको अपन उचिष्ट कहवा होगा वहां वो तामसी भोजन अमीर अमृत माने हिंसा युक्त पाप युक्त एक प्रकार से अपवित्र जैसे महान अपवित्र मद इत्यादि जो बुरी चीजें है अंडा इत्यादि वो ऐसी दुर्गंध वाली चीजें ओठला के बीच के वहां छूना से भी एक प्रकार साथ धोना चाहिए पाप लगे दर्शन भी नहीं करना चाहिए और लोग के पास होके भी नहीं जाना चाहिए दूसरा रस्तो मिल जाना चाहिए और जानो पड़े तो माँ का भी प्रवेश नहीं होटल के ऐसे जो भोजन होते हैं काम से मनुष्य को प्रिय होते हैं तो इनसे सदा ही सब दूर रहो और की क्रिया से भी परमात्म से भी दूर रहे परमात्म उसको नाम है जो न करने योग को काम को किया जाए जिसको प्रमाद है फालतू काम को नाम भी प्रमाद है पाप को नाम भी प्रमाद है तो पाप कर्म भी नहीं करे फालतू काम भी नहीं करे वो सब प्रमाद और करने को जो त्याग है करने योग को वो भी ऐसा प्रमाद है जब माता पिता की सेवा को त्याग कर दियो या संध्या गायत्री को त्याग कर दियो या कोई भी अपने शास्त्र की मर्यादा को त्याग कर दियो तो वो प्रमाद और आलस और निद्रा ये तामसी छह दस अधिक सोने तामसी युग हरि विहार सुशास्त्र बता रहा है युवती सुनो जागरण बता रहा है तो ये अपने लिए सहायक नहीं है एकदम ही त्याग कर देना इसी प्रकार से भी जो दुराचार है दुर्व्यसन है इन सबको भी त्याग करें कोई तो एक बुरी आदत है कोई प्रकार की उसको दुर्व्यसन कहते हैं दुराचार पाप का नाम है झूठ बोल लो चोरी कर लो व्यवचार लो हिंसा करनी खेल लो जितना जो पाप कर्म है मत पीनी मदरा पीनी मांस खानो तो अब एकदम ही त्याग करते हृदय का जो दुर्भाव है दुर्गुण इनको भी त्याग करते हो दूसरे का निष्ठ करने को जो भाव है वो दुर्भाव है और हृदय के भीतर के वहां काम क्रोध तो लोग मद मत्सरता राग द्वेष और अहंकार आदि जो बुरे भाव है बुरा से इसको ध्रुवण कहते हैं इनको एकदम त्याग कर देना चाहिए भीतर में इनको प्रवेश नहीं होने देगा ये सब हमारे परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है और परमात्मा की प्राप्ति में जो सहायक है भगवान नहीं ग्रहण करे तो जैसे सदगुण सदाचार है ये परमात्मा की प्राप्ति में सहायक सदगुण उसको कहते हैं उत्तम गुण हृदय के उत्तम भाव जैसे हृदय के वहां क्षमा है दया है शांति है हृदय के भाव है संतोष है सरलता है क्षमता है ज्ञान है वैराग है ये हृदय के उत्तम उत्तम भाव अच्छी नीत है भगवान कभी से की जो भक्ति है वो और भी ज्यादा उत्तम वो उत्तम में भी उत्तम है भगवान के गुण प्रभाव को मनन है भगवान के स्वरूप को भगवान के नाम को भगवान के विषय की कोई भी चीज को समझ है वो ईश्वर की भक्ति के अंतर्गत है तो भगवान की भक्ति सबसे बढ़कर है ही भजन कर लो ध्यान कर लो श्रवण कर लो सेवा करनी भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समृद्ध कर लो भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य और नाम रूप आदि को कथन लो इस प्रकार से आप जो समय बिताना वो बहुत ही उत्तम है इन सब के बीच क्या मानी हर वक्त जो भगवान की समृति है उसके बराबर कोई नहीं इसलिए हर वक्त भगवान की समृति को कायम रख कायम रखे उसके लिए दूसरी वस्तु को यदि छोड़ना हुआ है भिलना करनी हुआ है उसमें कमजोरी आती हो तो आओ भी और भगवान की स्मृति में कमी नहीं आनी चाहिए और जो जो भगवान की स्मृति में सहायक है मैंने अपनाना चाहिए और जिसके दर्शन से भाषण से सफर से वार्तालाप से भगवान की स्मृति हुए बात उत्तम बात है और जिसके दर्शन भाषण सफर से संसार की स्मृति हुए वो हमारे लिए घर उन्हीं पुरुषों से मिलना चाहिए कि जिनके दर्शन से भगवान की स्मृति हो जाए दर्शन से कैसे जैसे गवर्नमेंट का कोई चपरासी है और उसके पुलिस है लाल पगड़ी है लाल चपरास है और देखो गवर्नमेंट की पुलिस है तो झट गवर्नमेंट याद आ जाओगे गवर्नमेंट की पुलिस तो जैसे मैं गवर्नमेंट की पुलिस है ऐसे भगवान का जो भक्त है वो भगवान की पुलिस है जिसको याद करने से भगवान याद आ जाए वही भगवान को भक्त तो भगवान की समृद्धि में जो सहायक है वही अपने लिए सहायक वही अपना पुत्र है जो भगवान की भक्ति के अपने लिए मदद कारक है मरने के बाद के माँ जड़ और पिंड देव जी की तो कोई आवश्यकता नहीं समझो कि देहो चाहे नहीं देव वो तो समझो कि अलप काल के लिए है जिसके दर्शन से भाषण से सफर से वार्तालाप से कि भगवान की समृद्धि हो वो भगवान का भगत है और हमारे लिए बहुत ही मदद कारक है भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के वहां प्रेम बढ़ने के लिए उसे हम प्रेम करें श्रद्धा करें तो हमारे लिए फायदे की चीज है और वो तो प्रत्यक्ष श्रद्धा और प्रेम भगवान में बढ़ेंगे जिससे हमारे भगवान में प्रेम बढ़े भगवान में श्रद्धा बढ़े बस वही काम करना चाहिए और श्रद्धा प्रेम बढ़ने से समृद्धि अपने आप ही भगवान के माँ होगी जहाँ भगवान के माँ प्रीति होगी और श्रद्धा होगी वहां समृद्धि अपने आप ही होगी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक तो हम भगवान का भजन ध्यान कथा कीर्तन करें और एक स्वाभाविक हमारे से होने लगे तो हमारे से होने लगे वो दर्जा ऊंचा है तो अपना तो ऐसा बनना चाहिए कि हर वक्त ये सब आप ही होने लगे जैसे श्वास अपने आप ही आता है इसके लिए कौन प्रयत्न करता है अपने आप ही चलता है आप ही आता है श्वास तो जैसे श्वास अपने आप ही आता है इसी प्रकार से थी हमारी सारी क्रिया भगवान के लिए अपने आप से आप होने लगे तो ये हमारे लिए ज्यादा गौरव की बात है सरू के बीच के वहां तो करना पड़े पर आंख के वहां जाकर के यह स्थिति हो जावे वो उसको फल है आंख और के वहां करना पड़े कोई बात नहीं न करने से करना नहीं है और कर करके सहकाम से निष्काम झाड़ दर्जे छो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चंद्र की जय मोर मोट वंशी वाले की जय जैसे सत्संग है और सत्संग को यो आकरो ले लियो कि आपने साधन चाहे करो चाहे नहीं करो आपने सत्संग के प्रभाव से ही आपको कल्याण हो जाएगा तो यो आश्रो तो नीचे दर्जे को आपने तो साधन तेज होना चाहिए सत्संग को फल होना चाहिए साधन तेज हो न कि मुक्ति अपने समझो कि साधने तेज नहीं है तो मुक्ति कहां से होगी वो तो उसको धोखो है जो आदमी इस प्रकार से समझे है कि सत्संग के प्रभाव से हमारी मुक्ति हो जाएगी और साधन की कमी आ गई है तो वो गलत रास्ते पर सत्संग करने से तो साधन तेज हुए तो वो सत्संग को आश्रय बहुत ठीक है सत्संग को फल है साधन तेज होना चाहिए परमात्मा की जो प्राप्ति होती है वो परमात्मा की दया से होती है और सत्संग और साधन तो उसमें निमित्त होते हैं तो निमित्त की जो प्रक्रिया है वो ये है कि सत्संग से साधन तेज हो साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो रही है वो सत्संग को मिलनो और साधन तेज होनो ये परमात्मा की दया से ही हो मनुष्य तो निमित्त मात्र है किंतु निमित्त मात्र भगवान जरूर बनाते अपने को भी निमित्त मात्र बनना चाहिए अपनी आत्मा